और हकीकत यह है कि यही तुम्हारा दीन है सबके लिए एक ही दीन और मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं इसलिए दिल में सिर्फ मेरा रोब रखो